कहने लगे लूत अगर तुम बाज ना आए तो तुम भी उन लोगों में शामिल हो जाओगे जिन्हें बस्ती से निकाल बाहर किया जाता है